और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी बातों को बज़ाहिर कान लगाकर सुनते हैं मगर दिल में हक की तलब नहीं रखते इसलिए दरहकीकत बहरे हैं तो क्या तुम बहरों को सुनाओगे चाहे वो समझते न हो